बस उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को वहां पाया जिसको हमने अपने पास से रहमत अता की थी और हमने अपने पास से उसको इल्मे लदुनी अता किया था